उसके लिए जो शब्दों का प्रयोग करेगा उसमें वह अभिप्राय को प्रकट करने की क्षमता होनी चाहिए स्पष्ट नहीं है अच्छा फिर योग्यता क्या है योग्यता जैसे वह जो शब्द बोल रहा है हम्म। और उसका जो अर्थ है वो अर्थ को अभिप्रेत करने वाला होना चाहिए हम्म। हम्म। जैसे जैसे ऋषिकानंद ने वहां उदाहरण दिया है जल का जल जल शब्द में जल जो अभिप्रेत है जल का अर्थ तो वह अर्थ को प्रकट करने की क्षमता होनी चाहिए तभी वो जल शब्द सार्थक है प्रयोग करने में और आशक्ति जिस शब्द का जिस शब्द के साथ प्रयोग करने पर अर्थ स्पष्ट हो वो शब्द वही शब्द के साथ प्रयुक्त तो होना चाहिए हम्म। और तात्पर्य वक्ता अपनी बात को जब कहता है तब उसका अभिप्राय को समझ लेना चाहिए अच्छा आपको आती है चारों समझ में या नहीं आती आपको आती है सुना सकते हो नहीं सुना सकते आपको आती है चारों है लगभग तीन आती है तीन तो अच्छी तरह से आती है वेदमणि जी आपको आती है चारों या नहीं आती है पहली का आकांक्षा का क्या अर्थ करोगे करो जो आता हो करो डरते क्यों हो जैसा आता है वैसा सुना दो डरने की घबराने की चिंता की बात ही कुछ नहीं है हाँ जी बोलो जो आता है वही सुनाओ नहीं आता तो कहो नहीं आ रहा है भूल गए आप पढ़ती हो चार प्रकार नहीं पढ़ा चलिए साधक जी आप सुना सकते हो एक आकांक्षा का दृष्टांत समझ नहीं आ रहा बाकी सुना अच्छा योग्यता का वाला क्या लेते हो जो पदार्थ जिसके साथ है उसका संबंध हो उसी को लगाना चाहिए गलत को नहीं लगाना चाहिए जैसे कहा गया कि जल से वृक्ष की सिंचाई करो हम्म, हम्म, हम्म। तो ये तो ठीक है योग्यता है जल के अंदर जल को वृक्ष को सींचने की पर कोई ये कहे कि अग्नि से जल वृक्ष को सिंचाई करो तो ये योग्यता नहीं है <coughs> ये अच्छा फिर आसक्ति का क्या उदाहरण बनेगा आसक्ति का है कि जो पद जहाँ पर उपयुक्त हो वक्ता के अर्थ को निकालने में हाँ। पद का वहीं पर अक्षर या पद उसका वहीं पर प्रयोग किया जाना चाहिए हाँ। अन्यत्र नहीं जैसे जैसे अभी कहा जाए कि कल अहमदाबाद हम्म। और बहुत लंबे काल के बाद में कहा कि जाऊंगा हम्म, हम्म। तो ये आसक्ति ठीक नहीं है आत्मदेव जी कुछ आपको याद है चारों का अर्थ याद है स्वामी है कौन कौन से का आकांक्षा का है आकांक्षा का क्या इच्छा रखने वाला है कौन रखेगा इच्छा और आखिरी वाला है, है? का मतलब है अभिप्राय न वो तो आपने बताया ही नहीं इच्छा कौन रखेगा वो पहले का तो बताया नहीं आप अंत, अंत में पहुंच गए वक्ता क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है मतलब आकांक्षा का मतलब आपने सामान्य रूप से बताया था इच्छा रखने वाला कौन इच्छा रखने वाला कौन है मतलब अब इनको आत्मदेव जी को पता नहीं है मैं क्या कह रहा हूँ क्या कहना चाहिए बिना समझ के बोलते हैं ना जैसे ऐसे बोलते हैं अच्छा और योग्यता का क्या अर्थ है दोनों तो नहीं बता सकता था योग्यता का अरे उसका आकांक्षा का और योग्यता का नहीं बता सकते हैं आसक्ति का मतलब अच्छा हाँ जी रणवीर जी आप बताओ चारों का आकांक्षा मतलब समझा के बताओ ऐसे नहीं ऐसे टाल मटोल कर दी इधर कर दी गुजारा कर लिया सबको समझ में आए समय लगाते हैं हम इसके लिए तो औरों को भी तो समझ में आना चाहिए जब एक व्यक्ति बोलता है तो कुछ औरों को भी समझ में आए परिभाषा उदाहरण भी देना स्वामी जी हाँ उदाहरण सही तो समझाना होता है बिना उदाहरण के समझ में कैसे आएगा आकांक्षा अर्थात अपेक्षा रखने वाला हम्म। एक वाक्य में परस्पर जो शब्द होते हैं हम्म। वो एक दूसरे की अपेक्षा रखते हैं हम्म। या अनेक वाक्य हैं तो वहाँ पर एक वाक्य दूसरे वाक्य की अपेक्षा रखते हैं तब उनका अर्थ स्पष्ट सामने आता है तो इस अपेक्षा रखने के जो स्वरूप है इसको आकांक्षा कहते हैं जैसे मैं भोजन इतना कहने से अर्थ सामने नहीं आता हम्म। इन दोनों शब्दों को कोई और शब्दों की आवश्यकता है तो मैं भोजन करता हूँ हम्म। तो करता हूँ इन दोनों शब्दों की मैं भोजन को आवश्यकता है इन दोनों शब्दों को या उधर हम्म। बोलते करता हूँ तो फिर क्या करता हूँ इनको कुछ सब, किसी शब्दों की अपेक्षा है तो इधर मैं भोजन इन शब्दों की उसको अपेक्षा है तो यहाँ पर ये आकांक्षा है एक दूसरे को परस्पर किसको आकांक्षा है मैं भोजन को करता हूँ इन दोनों शब्दों की अपेक्षा है या आकांक्षा है किसको मैं भोजन जो ये दो शब्द हैं किस क्यों किसकी आकांक्षा ये बताना पड़ेगा ना अर्थ को निकालने के लिए हाँ हाँ कोई भी दो शब्द हैं जैसे कि मैं भोजन हाँ हाँ अब इतने कहने से जो अर्थ हाँ। जो सामने वाले को हम जो चीज सुना रहे हैं हाँ। मैं भोजन हाँ। तो सामने वाले को मैंने इतना कह दिया हाँ। कि मैं भोजन हाँ। हाँ। तो उसमें उसको ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझ में नहीं आएगा हम्म, हम्म। मैं भोजन क्या किया या कर रहा हूँ या करूंगा तो उसको फिर आकांक्षा रहेगी किसको सामने वाले सुनने वाले व्यक्ति को वो तो पदों की आकांक्षा मानिए जानने वाले की आकांक्षा तो नहीं मानी गई वहाँ हाँ पदों की आकांक्षा है स्वामी जी नहीं आप तो कहते जानने वाले को अपेक्षा रहती है आप तो ये अर्थ कर रहे हो मैं दोनों तो पहले में तो मुख्य इसको किया स्वामी जी वो ठीक है आप जो ये अर्थ कर रहे हो कि सुनने वाले को अपेक्षा रहती है तो सुनने वाले को अपेक्षा रहती है ये कहा से निकाला पदों का फिर वो पहला वाला ही ठीक हाँ फिर फिर चलाओ पदों वाला ही जैसे मैंने बताया था हाँ कि मैं भोजन हाँ हाँ ये जो पद है हाँ। इनसे पूर्ण अर्थ नहीं निकलता ये तो ठीक है आपको बताना ये है कि इन्हें आकांक्षा कौन कर रहा है किसकी कर रहा है आकांक्षा मैं भोजन ये आकांक्षा कर रहा है और भोजन करूंगा मैं शब्द कर रहा है या आप कर रहे हो या कौन है मैं भोजन ये दो शब्द है वो हाँ ये जो आकांक्षा कौन कर रहा है मैं भोजन ये जो दो शब्द है हाँ हाँ करूंगा हाँ हाँ इस अन्य शब्द की आकांक्षा कर रहे हैं ये शब्द अच्छा अच्छा योग्यता का क्या बनेगा योग्यता का मतलब ये है कि हम ऐसा वाक्य बोले कि जो वाक्य का अर्थ संभव हो हम्म। जैसे कि साधा जी ने उदाहरण दिया कि जल से पौधों को सींचा जाता है हाँ हाँ तो इस वाक्य ये वाक्य संभव है जल से पौधों को सींचा जा सकता है हम्म, हम्म। लेकिन कोई कहे कि हम अग्नि से या हमारे दादा पर दादा अग्नि से पौधों को खिंचा करते थे हाँ, हाँ। तो ये वाक्य असंभव है इस वाक्य के अर्थ से हम कार्य नहीं कर सकते हाँ। तो, तो ये है तो योग्यता कहाँ देखनी है हमने तो उस वाक्य में वैसे योग्यता है या नहीं है हम्म। जल से जैसे किसी ने कहा कि जल से पौधों को सींचा जाता है ठीक बात है तो इस वाक्य में हम्म। वो योग्यता है या नहीं है हम्म। योग्यता नहीं होगी तो क्या होगा तो फिर उसका क्या क्या वाक्य बनाओगे जब योग्यता नहीं है तो उसका वाक्य क्या बनेगा यदि योग्यता जल में नहीं है तो जिसमें योग्यता है इस कार्य को करने की उस शब्द को ला करके और जिसमें नहीं योग्यता हो तो फिर क्या वाक्य बनेगा जैसे जैसे हमारे पुराने हमारे दादा लोग अग्नि से पौधों को सींचते थे हाँ, हाँ। इसमें योग्यता नहीं है अग्नि में कि वो पौधों को सींचे हाँ। तो हम यहाँ पर फिर जल शब्द को रखेंगे तो उसमें योग्यता है अच्छा ये आसक्ति क्या है आसक्ति मतलब आगे पीछे के शब्दों को जोड़ना हम्म। ठीक प्रकार से हम्म। ये आसक्ति है स्वामी जैसे जैसे उपाध्याय ये अपना सरल सा उदाहरण देते हैं हाँ। कि रोको मत जाने दो हाँ हाँ। यदि हम मत को जाने दो के साथ जोड़ते हैं हाँ, हाँ। तो एक अलग अर्थ निकलता है हाँ। और हम यदि इसी को मत को रोको के साथ जोड़ देते हैं हम्म। रोको मत जाने दो तो इसी का अलग अर्थ निकलता है हाँ।, हाँ। तो इस प्रकार से जो शब्द है जहाँ पर इसका संबंध है वहाँ वहाँ पर आपको कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है और आपको आपको आया समझ में आपको आ गया किसको नहीं आया आप बोला होना आकांक्षा में स्पष्टता नहीं कर पाए हाँ आकांक्षा में ऐसा होना चाहिए वाक्यस्थ पदों पद जो होते हैं उनमें हाँ। परस्पर आकांक्षा रहती है हाँ, हाँ एक दूसरे एक दूसरे की अपेक्षा रहती है ये कहना चाहिए अच्छा तो आपके बोलने में बताने में स्पष्टता नहीं है बताने में बोलने में जो समझाने की योग्यता स्पष्टता होनी चाहिए वो नहीं है अर्थात इसको सीखना पड़ेगा कैसे समझाया जाता है कैसे दूसरे को हम संतोषजनक समझा सकते हैं उसके लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है क्या बताया जाए कैसे उदाहरण दिए जाए जिससे कि समझने वाला उसको पकड़ सके बोलने में भी ऐसा ही होता है उपदेश में भी ऐसा ही देखा जाता है आप अलग अलग बोलने वाले आचार्य जी बोलते हैं वो प्रभावित करते हैं लोगों को नहीं देखा आपने प्रभावित करते हैं उत्साह भर देते हैं पर भाषा में गोली मिली भाषा और शब्दों की स्पष्टता नहीं होती क्या समझ में आया नहीं अनुभव किया आपने शीघ्रता के कारण शीघ्रता उनमें गति तीव्र होती है बोलने की गति तीव्र होती है तो तीन चार शब्द बोले एक दो समझ में आया दो तीन गोल मिल गए भाव समझ लिया जैसे शब्द अलग अलग सुनाई नहीं देते अपने ये उपाध्याय जी जो बोलते हैं उनमें उत्साह तो कम बढ़ते हैं लोगों में उत्साह बढ़ना उद्वेग पैदा करना वो तो कम होता है और शब्दावली में शब्द होते हैं उनका एक एक अर्थ समझ में आता है शब्दावली ऐसे होती है क्या समझ में आया शब्दावली का चयन इस प्रकार से होता है एक एक वो भी तो स्पष्ट एक एक शब्द वाक्य समझ में आता है उनका पर उत्साह भरना उसमें लोगों के अंदर कुछ प्रभाव डालने का एक भाव होता ना वो उसमें बहुत कम होता है नहीं देखा आपने कम है नहीं अनुभव किया इनमें से कितने लोग भाषण देते हैं बोलते हैं उनमें बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो स्पष्ट भाषा बोलते हों वो समझ में आती जाती हो और सारे शब्दों को सुनाते हों वाक्य का एक एक का ठीक ठीक अर्थ समझ में आता हो ऐसा प्राय एकाध व्यक्ति को छोड़ो नहीं होता पढ़ाने में भी ऐसे ही प्रयोग करने पड़ते हैं व्यक्ति देखता जाता है कि कैसे बोलूं मैं पहले तैयारी करके लाता है वो ऐसे समझाऊंगा ऐसे मैं बोलूंगा यहां पर यह उदाहरण दूंगा ऐसे पहले खूब सज्जा करके लाता है तो फिर भी कमी रहती है तो फिर दो बार फिर पढ़ाता है किसी को तो फिर और तैयारी करता है फिर आगे पढ़ाता है और सज्जा करता जाता है उसमें सुधार होता जाता है होता जाता है फिर बहुत अच्छा वो पढ़ाता है बहुत अच्छा बोलता है आपने दर्शन पढ़े आपने पढ़े आपने पढ़े और तीन और कौन कौन है आनंद अच्छा अच्छा, अच्छा उन्होंने ये पांच कर लिए होंगे अच्छा रणबीर जी ये बताओ ये शब्द के अंदर शब्द और अर्थ का कौन सा संबंध है सांकेतिक संबंध है स्वामी जी हम्म। और कौन सा नहीं है समवाय संबंध साधक जी कौन सा संबंध है वाचक संबंध और कौन सा नहीं है समवाय संबंध नहीं है और और आपको क्या समझ में आया सांकेतिक संबंध है वाच्यवाचक संबंध समवाय संबंध उनका नहीं है हाँ हाँ और संयोग संबंध संयोग संबंध नहीं है अन्य तरह संयोग भी अन्य तरह संयोग भी नहीं है उसमें हम्म? अन्य हाँ संयोग भी नहीं है अन्य संयोग का क्या मतलब अर्थात एक तरफ से कोई कोई आता हो हाँ, और हाँ। जुड़ जाता हो एक स्थिर है एक में केवल गति है हम्म, हम्म। तो यह अन्य संयोग तो अच्छा। ऐसे भी नहीं है कि कोई शब्द किसी से जा चिपकता हो या अर्थ शब्द के साथ में आग चिपकता हो अच्छा आप ये जो प्रतिदिन मंत्र का स्वाध्याय करते हैं क्या नियम पूर्वक प्रत्येक ब्रह्मचारी उसको स्वयं स्वाध्याय करके आता है या नहीं है क्यों नहीं आती तो उसको नियम रखो स्वाध्याय करके आना नहीं आओ तो उसका दंड लो जो मंत्र प्रतिदिन स्वाध्याय के रूप में पढ़ा जाता है उसका स्वाध्याय करके आना है प्रत्येक व्यक्ति को जिस दिन नहीं आओगे उस दिन दंड लेना पर क्या समझ में आया हम्म? आ गया समझ में क्या आया समझ में यदि ये पूछना होता है कि कल कौन से मंत्र का स्वाध्याय होगा ये तो पता लगा लो यहां से क्या समझ में आया जिस मंत्र की प्रतिदिन व्याख्या की जाती है उसको प्रत्येक ब्रह्मचारी स्वाध्याय के रूप में ध्यान श्रद्धा से पढ़ के आएगा क्या समझ में आया बोलो बोलो जिस मंत्र की व्याख्या होनी है उसे हाँ। प्रत्येक हमारी पहले करके आएगा हाँ। अच्छा आप नारी समाज के नियम पढ़े हैं आपको सबको कंठस्थ हैं इसको हो हाँ, हाथ खड़ा करो हाँ जी आपको नहीं है सारे नहीं है हैं सारे नहीं है अच्छा आपने व्याकरण पढ़ा तो आप क्या करते हैं जैसे प्रथमा वृत्ति है फिर द्वितीय वृत्ति काशी का है फिर महाभाष्य कैसा दिखता है पढ़ाने बैठे हो तो पढ़ा सकते हो या नहीं या कैसा रहता है कुछ स्थलों पर विषय चिंतन की आवश्यकता है अभी हाँ और आपका ये विचार रहता है जी कुछ कहते हैं ना व्याकरण पढ़ना है तो क्या आप फिर अष्टाध्याय याद कर रहे हैं व्याकरण पढ़ने के लिए अभी प्रारंभ नहीं किया स्वामी जी कब करोगे और कितने दिन में करोगे उसको वो तो अभी कोई निश्चित नहीं है स्वामी जी ऐसा निर्धारित नहीं किया है कि अब से ऐसा हम्म? कोई दिन ऐसे तारीख निर्धारित नहीं किया है कि मैं इस दिन से अष्टाध्याय रटना प्रारंभ करूंगा और इतने दिन में कर लूंगा हाँ तो फिर तो आगे परिस्थिति के अनुसार से मैं उसके ऊपर विचार करूंगा स्वामी जी हाँ। और आपका क्या विचार है व्याकरण के विषय में व्याकरण करने का अध्ययन करने का विचार अच्छा तो कुछ अष्टाध्यायी या कुछ और मूल कुछ याद कर रहे हो या प्रारंभ किया मूल है आपका अभी वर्तमान में व्याकरण पढ़ने का विचार नहीं और जी हम्म। इनमें से जब कोई पढ़ेगा तो आप पढ़ा तो देंगे व्याकरण को क्यों क्या नाम है ध्रुवन जी क्या नाम है ध्रुदेव जी ये भी व्याकरण पढ़ेंगे प्रथमा वृत्ति पढ़ा दोगे या नहीं हाँ आप जो संध्या करते हैं पूरी वैदिक संध्या प्रत्येक मंत्र का अर्थ करके चलते हो आप बिना ही अर्थ किए कैसा रहता है आप बोलेंगे करते हैं या नहीं पहले तो ये बताओ व्यक्तिगत रूप से संध्या करते होंगे आप तो व्यक्तिगत रूप में प्रतिदिन पूरी संध्या करते हैं या नहीं करते हैं तो हाथ खड़ा करके बताएंगे आप नहीं करते और आप छूट जाती है तो उसको सायकाल बताते और का दंड लेते हो या नहीं दंड तो नहीं अभी बनाया है तो छोड़ कैसे देते आपको बताया नहीं गया कि प्रतिदिन करनी है इस बताया गया है फिर आधी रह जाती कभी बिल्कुल नहीं नहीं वो रह क्यों जाती है उपासना में दूसरे विचारों पर वृत्तियाँ उठती रहती है और ऐसा विचार ही नहीं आता कि संध्या करनी ऐसा तो जब आप निर्णय नहीं करोगे पक्का जमाओगे तो संध्या होगी ही नहीं फिर तो आप पाठ पढ़े एक या पढ़ाए और पाठ पढ़ाएंगे या पढ़ेंगे तो क्या ऐसी स्थिति बना सकते हैं दूसरे विचार आ रहे थे तो इसलिए मैं पढ़ा नहीं पाया दूसरे विचार आ रहे थे तो इसलिए मैं पढ़ नहीं पाया ऐसा कुछ कहेंगे आप फिर होता है इसलिए नहीं नहीं वो व्यक्ति का स्वभाव ना नेम भंग करके चलना उसका उत्तरदायित्व पूर्ण ने माना नहीं उसको उसमें दोष न मानना ये उसके अंदर रहती है विचारधारा है आत्मनिरीक्षण में तो सूक्ष्म त्रुटियां नहीं बताते हैं हाँ। फुल त्रुटियां बता दे, बता देते तो जब आप ये देखते हैं कि संध्या करने का नियम है और आप करते हैं कभी नहीं करते ना आप बताते हैं और ना उसका कोई दंड लेते हैं तो जैसे ये नियम भंग किया ऐसे और नियम भंग करेंगे आप आपका तो स्वभाव बन गया नियम भंग करने का कभी ऐसा लगा नहीं कि नियम भंग हुआ है तो ये भी एक मूर्खता की बात है उसको नियम भंग हो रहा और पता नहीं लग रहा होगा नियम भंग हो रहा है ये सूक्ष्म त्रुटिया है ना ऊपर ऊपर से कहते हैं उपासना कैसी रही सामान्य रही की वृद्धि रही हाँ, कुछ भी हो आप ये देखो ये संध्या करना न करना ये सूक्ष्म त्रुटि नहीं है मोटा रूप है संध्या करना न करना सूक्ष्म त्रुटियां वो होती है मन में किसी के प्रति राग उत्पन्न हो गया किसी के ऊपर द्वेष हो गया सूक्ष्म वो सूक्ष्म त्रुटि कहलाती है दिमाग में बात रहती है कि मैं जैसा सोचता हूँ दुनिया में मैं वो सर्वोपरी है बस वो जो सोचता है वो ठीक है ये दिमाग व्यक्ति का बना रहता है वो ये नहीं देखता कि मैं सोचता हूँ मैं गलत भी सोचता हूँ ठीक भी सोचता हूँ और मेरे सोचने की बात मानी जाए तो सारे के सारे उल्टे कर्म करूंगा मैं फिर जैसा मैं सोचता हूँ वही करने हैं तो वो न किसी दूसरे से पूछता है ना ये देखता है मैं नेम भंग कर रहा हूँ बस उसके दिमाग में ये बात है मैं जो विचार करता हूँ वो ठीक है ये भी नहीं जोड़ता कि मैं जो विचार कर रहा हूँ यदि लोगों को पता चलेगा कि मैं विचार कर रहा हूँ वो लोगों को गलत गलत दिखाई देगा अर्थात वो कहेंगे आपने गलत सोचा तो उसके लिए उत्तरदायित्व तो नहीं उसके दिमाग में मुझे उत्तर देना चाहिए कि जो कर्तव्य था वो आप नहीं कर रहे पूछने वाला पूछेगा कोई अध्यापक पूछेगा आप करते हैं या नहीं उस समय आप कहेंगे नहीं करता आपने पहले से कभी नहीं सोचा होगा कि कोई पूछेगा तो मेरे मैं ये उत्तर दूंगा तो गलत होगा उसका खूब प्रभाव पड़ेगा दिमाग वही काम करता व्यक्ति का वो जो स्वयं सोचता है उसको सर्वोपरि मानता है और दुनिया के लोग सोचते हैं वो सोचते रहे कोई मतलब नहीं तो ये प्रक्रिया ये पद्धति व्यक्ति की अच्छा बनने की नहीं है आपको ये भ्रम है कि हम जो सोचते हैं ठीक सोचते हैं व्यक्ति को कितना समझना पड़ता है ऋषियों के साथ जोड़ना पड़ता है वेदों के साथ जोड़ना पड़ता है ये में नियम को साथ जोड़ के विचार करना पड़ता है दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका उसको देखना पड़ता है तो ऐसे व्यक्ति जब चलता है तो उसके दोष हटते जाते हैं और प्रगति विकास होता जाता है इस प्रकार की शैली पद्धति व्यक्ति को कोई आदर्श व्यक्ति नहीं बना सकती छोटे से छोटी बातों को वो व्यक्ति बड़ी सूक्ष्मता से देखता उनका पालन करता उनका भंग होने पर दोष समझता आगे सावधान हो जाता आप आजकल ज्ञानपूर्वक झूठ बोलते हो या नहीं ज्ञानपूर्वक कौन कौन है जो कभी झूठ नहीं बोलते हैं ज्ञानपूर्वक बताओ अपना अपना ज्ञानपूर्वक कभी झूठ नहीं बोलते है जी है जी अच्छा दूसरी बात आप ये बतलाओ कि आप दूसरे के साथ बातचीत करते हुए लेते देते हुए कुछ क्रोध करते हुए या नहीं करते कौन कौन करते हैं थोड़े से हाँ जी थोड़ी मानसिक द्वेष होती है क्रोध तो नहीं करते हैं हाँ मानसिक द्वेष हो तो मानसिक का एक और वाणी में उत्तेजना आना ये बार का है हुँ? हम्म? मानसिक जो उभरता है द्वेष या क्रोध उसको पकड़ पाते हैं या नहीं पकड़ते हम्म? हैं दिन में आप चलते फिरते खाते पीते अपना संबंध ईश्वर से जोड़े रखते हो या नहीं रखते हम्म? मैं प्रयास क्यों जी बोलो मैं करता हूँ प्रयास हाँ जी बोलो कैसा रहता है प्रयास करते हैं अच्छा ईश्वर से संबंध जोड़ने का मतलब क्या है ये तो बताओ पहले जो क्रिया कर रहे हैं उसे ईश्वर के प्रति समर्पित करना हम्म। जैसे भोजन कर रहे हैं तो ईश्वर को ईश्वर को ही समर्पित करके करना है भोजन खा रहे हैं आप और भोजन खाते जा रहे हैं उस समय आपका भोजन से अधिक प्यार होता है या ईश्वर से अधिक होता है नहीं ऐसा सोचते हैं कि ये भोजन कर रहा हूँ आप बोलो जी संदीप जी जो भी कार्य हम कर रहे हैं दिन भर उसका लक्ष्य ईश्वर बना रहना और वो तो बना रहे लक्ष्य तो एक चीज हुई अब आप अपने प्रेम की बात देखेंगे जब भोजन खाते हैं ना वो अच्छा लगता है तो खाते समय हमारा प्रेम ईश्वर से रहता है या भोजन से या दोनों से या किसमें दिख रहता है नहीं पता चलता चलता है, चलता, है। हम्म? चलता है चलता है कैसा रहता है हम तो प्राय गायत्री मंत्र पढ़ते पढ़ते भोजन करने का प्रयास करते हैं हम्म। वो भी अर्थ का सहित हम्म। तो हमें लगता है कि हम मैं जो भजन कर रहा हूँ वह शरीर को स्वस्थ करने के लिए है ताकि मैं ईश्वर को प्राप्त कर सकूँ जैसे दो मित्र लोग हम बात करते हैं पास में बैठते हैं सुनते सुनाते हैं ऐसे ईश्वर के साथ कोई संबंध रहता है आपका मित्रों की बातें हम्म? हाँ जी संदीप आप बोलो अपना आप बोलो अपना बोलो बहुत ही न्यून कभी कभी आप बोलो कम रहता है कम आपका भ्रमण काल में और भोजन काल में रहता है आपका कैसा रहता है अच्छा जब कम रहता है ऐसा मान के चलो तो उस स्थिति में क्या होगा परिणाम आपको पता है आप ईश्वर की उपासना छोड़ोगे और लौकिक चीजों की उपासना करोगे परिणाम ये निकलेगा और इससे आपका पूरा जीवन मोड़ खाएगा परिवर्तन होगा यदि ईश्वर के साथ संबद्ध हैं आप रहेंगे पूरा तो जीवन संतुलित विशुद्ध रूप में योग मार्ग की ओर चलेगा आप विवेक वैराग्य को प्राप्त कर समाधि तक पहुंचेंगे और यदि ऐसा नहीं है तो आप लौकिक स्तर पर रहेंगे लौकिक चीजों से ही प्यार अधिक रहेगा ईश्वर से कम सामान्य रूप से विशेष गति प्रगति विवेक वैराग्य आपको हो नहीं सकेगा समाधि की बात नहीं आ सकेगी दूसरी स्थिति में ये रहेगा ये पढ़ना है ये पढ़ाना भी है लिखना है उपदेश देना है ये साधन तो है ये हमारे कर्तव्य हैं करने चाहिए पढ़ना भी चाहिए पढ़ाना भी चाहिए ये सब अच्छी बातें पर हमारा जो संबंध है ईश्वर से पूरा जुड़ा रहना चाहिए कारण ये है कि ईश्वर से संबंध न जुड़ने का परिणाम तमोगुण रजोगुण हमको प्रभावित करते हैं और हमारा जीवन जो है लौकिक बन के रह जाता है स्थिति ये बनेगी चाहे वो कितना ही पढ़ा लिखा व्यक्ति हो यदि ये नियम है दोनों यदि वो ईश्वर की उपासना ईश्वर से सानिध्य ईश्वर के साथ आबद्ध रह के रहता है ये सब काम पढ़ना है पढ़ाना है उपदेश देना है विद्यालय चलाना है ये धर्म है साधन है ईश्वर प्राप्ति करने कराने के इसमें मतभेद नहीं है पर उसकी स्थिति उसका प्रेम उसकी उपासना ईश्वर के साथ लगातार दिन भर चलती जाती है दोनों का प्रभाव पड़ना निश्चित ईश्वर के साथ आबद्ध रहेगा तो उसका प्रभाव अच्छा पड़ता चला जाएगा विद्या का जो है प्रभाव विद्या बढ़ती जाएगी अविद्या हटती जाएगी कुसंस्कार जो है हटते जाएंगे अच्छे संस्कार बढ़ते जाएंगे धर्म की प्रवृत्ति धर्म में आचरण ऊंचा होता जाएगा अधर्म दूर होता जाएगा उल्टे संस्कार कमजोर पड़ते चले जाएंगे ये राग द्वेष कलेश है ये कम होते चले जाएंगे उस ओर और यदि हम ईश्वर के साथ संबद्ध नहीं रहते तो ये जितना मैंने कहा है उल्टा होता जाएगा उसको कोई रोक नहीं सकता अब विराम सरस्वती जी के किए भाष्य को सुना मंत्र में अनेक बातों का उपदेश किया गया है इमम जीवेभ्य परिधिम दधामी जीवों के लिए मैं एक मर्यादा बनाता हूं मर्यादा एक नियम अवधि सीमा व्यवस्था जीवात्माएं इन कार्यों को करें और इन कार्यों को न करें ये मर्यादा मनुष्य के कर्तव्य और अकर्तव्य का निर्णय अंतिम निर्णय केवल ईश्वर ही दे सकता है और कोई व्यक्ति नहीं दे सकता क्या समझ में आया जीवों के कल्याण के लिए ईश्वर ही एक निर्णय दे सकता है कि इसके करने से जीवों का कल्याण हो जाएगा और इसके करने से जीवों का अकल्याण हो जाएगा ये दोनों व्यवस्थाएं ईश्वर दे सकता है मनुष्य नहीं दे सकता हाँ वेदों को पढ़ के ईश्वर की उपासना करके इस प्रकार से ज्ञान विज्ञान को बढ़ाते बढ़ाते उसकी सहायता से अनेक क्षेत्रों में जीवात्मा भी निर्णय देने लगता है आप तब पुरुष सत्यवादी सत्य मानी सत्यकारी ऋषि योगी अंतिम निर्णय वो देते हैं परंतु ऐसा नहीं माना जाता ऐसा ऋषि नहीं मानते कि हमारा निर्णय अंतिम है क्या समझ मान ये ऋषियों की एक विशेषता आपके सामने रखी थी आदि सृष्टि से लेकर अब वर्तमान में आप कहें तो महर्षि दयानंद पर्यंत तो उसमें ये मान्यता स्वीकार की गई है कि जो जो बात हमारी ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव के अनुरूप हो वेदों के अनुकूल हो वह वह बात हमारी सत्य मानी जा सकती है इसके विरुद्ध हमारी बात सत्य नहीं मानी जा सकती ऐसा ऋषि मानते अंतिम निर्णय ईश्वर ही करता है अंतिम निर्णय ईश्वर का ही माना जाता है इसमें कारण क्या है कोई बताना चाहे याद हो पहले का पाठ तो बता सकता है एक व्यक्ति बताएगा जी को याद हो तो नहीं हो तो कोई बात नहीं पता भी चल जाएगा आप कितना याद करते हैं हाँ बोलो पूर्ण जानी क्यों है कैसे जानता है हरेक को भी हो तो सबको जानता है नहीं आपने नहीं बोलना किसी मर्यादा में बताया था ना मर्यादा में रहो उन्हीं को बोलने दो एक को बोला मेरा के बोलने का एक प्रसंग नहीं हाँ अच्छा सर्वव्यापक है हम कहीं आकाश भी सर्वव्यापक वो अंतिम निर्णय दे देगा बोलते जाओ नहीं तो कोई बात नहीं है हैं हाँ ये बात आपकी ठीक है आकाश हो सर्वव्यापक हो तो परंतु वो जड़ है वो निर्णय अच्छा ईश्वर सर्वज्ञ है ऐसे कैसे पता चला अच्छा और जो ईश्वर की बताई बात पर विश्वास ही नहीं करे तो क्या करोगे उसको समझाएंगे कैसे <laughs> समझाना पड़ेगा ना <laughs> वो आपके सर पे डाल दिया <laughs> अच्छा ये आपने कड़वी भाषा बोल दी अच्छा जो ईश्वर की बात सीधी नहीं मानता हो उसको अनुमान प्रमाण से समझाया जाता है बैठो आज जो ईश्वर की बात को नहीं मानता या नास्तिक है अथवा ईश्वर को सर्वज्ञ नहीं मानता उसको अनुमान प्रमाण से समझाते हैं शब्द प्रमाण को वो नहीं मानता अपने अपने ग्रंथों की मान्यता लोगों की बनी कुरान बाइबल आदि आदि वेद आदि उनमें आप अपने ग्रंथ की बात सब मानते जैसे पर दूसरे के ग्रंथ की बात दूसरा माने ये आवश्यक नहीं है नहीं मानता वो जब कोई नहीं मानता तो अनुमान प्रमाण से कार्य करना ही पड़ेगा किससे समझाओगे आप उसने कहा ईश्वर सर्वज्ञ है जी फिर कहा क्यों वो चेतन और सर्वव्यापक है ये कहा फिर कहने लगे कोई उदाहरण तो दो तो ईश्वर को समझाने वाला कहता है सैकड़ों हजारों और आगे बढ़ जाओ लाखों जगह पर बुद्धि पूर्वक सृष्टि में कार्य देखे जाते हैं दोहरा लो क्या कहा फिर से सुनो थोड़ी सी भाषा कि ईश्वर सर्व व्यापक है ठीक है ना क्यों क्योंकि सृष्टि की रचना बुद्धि पूर्वक है क्या समझे और सृष्टि की रचना बुद्धि पूर्वक अनेक जगह देखी जाती है ध्यान दो जहां जहां बुद्धि पूर्वक कार्य होता है वहां चेतन करता मिलता है दोहराओ जैसे बेंगलोर के कारखाने में घड़ी मारुति कार के कारखाने में मारुति कार ये उदाहरण है वहां बुद्धिपूर्वक जहां जहां कार्य होते हैं वहां चेतनकर्ता मिलता है इसलिए सृष्टि के अंदर विविध स्थानों पर बुद्धिपूर्वक कार्य होने से ईश्वर सर्व चलो अब आगे बढ़ रहे हैं हम मर्यादा ध्यान देंगे आप पाश्चात्य विद्वानों ने अपनी अपनी बात कही और उन्होंने कहा मेरी बात ठीक है दूसरे लेखक ने कहा मेरी बात ठीक है तीसरे ने कहा मेरी ठीक है अब वो किसी परिणाम पर नहीं पहुंच पाए मूल भूल कहा हुई उन्होंने सर्वज्ञ सर्वव्यापक ईश्वर को नहीं माना एक व्यक्ति कहता है व्यक्ति को प्रधान मान के चलो व्यक्ति की रक्षा प्रथम स्थान पर करो समाज की दूसरे स्थान पर ये धर्म है मर्यादा है दूसरे ने कहा नहीं समाज को प्रथम स्थान पर रखो समाज की सेवा पहले करो व्यक्ति की पीछे बताओ किसकी बात मानोगे आप दो लेखक हैं है? अच्छा सुनो आप ही बोलो कौन सी ठीक है ये ठीक है मतलब अच्छा चलो आ, हाँ, और बोल लो तो आर्य समाज के नियम में क्या लिखा दसवें में है और दूसरी बात वो तो कही नहीं तो कहनी थी प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र रहे अब आया समझ में नहीं आया दोनों धाराएं चली एक धारा में व्यक्ति परतंत्र है समाज के एक धारा में समाज भी व्यक्ति के अधीन हो जाएगा या व्यक्ति के पीछे उसको चलना पड़ेगा भयंकर रोगी हो गया सांस नील आ रहा और समाज के लोग भागे दौड़े सब छोड़ डाला घर के काम छोड़े व्यक्ति के पीछे लग लिए या नहीं होता ऐसा तो है व्यक्ति प्रधान है बाढ़ आ गई युद्ध हो गया सारे के सारे लोग अपन अपना खेत का काम दफ्तरों का छोड़ छाड़ करके युद्ध के लिए चल पड़े अपना व्यक्तिगत कार्य छोड़ डाला तो क्या हुआ तो क्या निकला निचोड़ <laughs> ये नियम बनाने वाले ईश्वर को जानने मानने वाले महर्षि दयानंद हैं ये दसवा नियम है और उन्हें वही बनाया पाश्चात्य विद्वान ईश्वर को इस रूप में नहीं मानते नहीं जानते एक कहने लगा आप ये नियम बनाते हो आप अल्पज्ञ हैं हाँ अल्पज्ञ हूं तो आपकी बात क्यों मानी जाए नहीं मानी जाएगी दूसरे ने एक नियम बनाया पाश्चात्य विद्वान ने क्योंकि ये मान लो क्यों मान ले आप सर्वजय हैं नहीं सर्वजय नहीं तो न तो उसकी बात मानी जाती और न उसकी बात सारे बेकार आगे खड़े हो गए कोई मर्यादा नहीं बन पाई और ऋषियों ने कहा नहीं हमारी बात नहीं माननी जो जो बात वेदों के अनुकूल ईश्वर के स्वभाव के अनुकूल हो वो हमारी ठीक है और उससे विरुद्ध गलत इसलिए आज तक ऋषि एक मर्यादा को लेकर चले ऋषियों ने ईश्वर को निर्णित क्यों माना निर्णय आयक अंतिम वो सर्वज्ञ है सर्वशक्ति मान है आनंद से परिपूर्ण है इसलिए ईश्वर भूल नहीं करता क्या समझ में आया जीव आत्मा सर्वव्यापक मान सर्वज्ञ नहीं है जीवात्मा आनंद स्वरूप नहीं है इसलिए जीवात्मा ऐसा कोई हुआ नहीं आज है नहीं आगे होगा नहीं जो जन्म लेके भूल न करता हो अब हाँ, बोल दो देसराज जी मैंने क्या कहा आपने तो सुना होगा कौन पूछता है सुन सुना के रह जाओ <laughs> ऐसे अध अध कचरी बात कही पूरी कह दो उसको जो बात थी बता छूट गई अब उन्होंने सुना दी और देशपाल जी देशराज जी आगे बैठे वैसे बैठे चुपचाप जब डंडा लगने का भय हो जब याद करता है व्यक्ति डंडा तो लगता नहीं और अथवा आपका भोजन बंद कर दो फिर दूसरे दिन झटाझट याद करोगे आप तो ये एक बात मैंने सुनाई आपको हम जम करके चलते हैं और निर्धारित करते हैं कि जो निर्णय ईश्वर ने दिया वो और ईश्वर के अनुरूप जो ऋषियों ने निर्णय दिया वो हमारे लिए अंतिम निर्णय अंतिम निर्णय ईश्वर उसके स्थान पर फिर ऋषियों के ग्रंथ है उसके पश्चात ऋषियों के वचन है और उसके पश्चात उसके अनुरूप आत्मा क्या समझे नहीं यार देसरा जी फिर वही हो के साथ आपको पढ़ाना सिखा देंगे पढ़ना सिखा देंगे यदि सीखोगे तो अच्छा इसमें और भी संकेत है एक प्रश्न उठता ही रहता है कि इन वृक्षों में जीवात्मा है या नहीं अब इस मंत्र में जो व्याख्या की गई इसमें इन इनको स्थावर योनि और इसमें भाष्य में लिखा है कि इन जीवों के लिए जो प्राणधारी हैं उनके लिए और स्थावर उन उन जीवों के लिए मैं मर्यादा बना रहा हूं क्या निकला बताओ जीवे भ्य प्राणधारी भ्य स्थावरे भ्यश्च क्या समझे मर्यादा बना रहा हूं क्या निकला इससे वृक्षों में और वह दंड भोग रहा है और हम हमको लाभ पहुंचा रहा है दो प्रयोजन से होते हैं इससे हमको तो लाभ होता है और उसको दंड मिल जाता है एक दृष्टांत दिया जाता है पिताजी को स्नान करवाया आम के पेड़ के साथ में करवा दिया स्नान <laughs> तो उन्होंने कहा पित्रा से प्रणीता वृक्षा से सिंचिता क्या वृक्ष की सिंचाई भी हो गई और पितर जी की पूजा भी हो गई दो प्रयोजन हो गए अच्छा चलो विराम की ओर चले याद रखिए एक बात और आई सुन इस मंत्र में पर्वत शब्द का अर्थ ज्ञान है और पर्वत शब्द का अर्थ ब्रह्मचर्य है जो कहते हैं ना आयु निश्चित कर रखी है व्यर्थ की बात करते ब्रह्मचर्य के बल पर आयु